الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه وقال الله في مقام اخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب التائب من الذنب كمن لا ذنب له آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना गुफ्तगु तूने सिखाई है मैं तो गूंगा था गुफ्तगु तूने सिखाई है मैं तो गूंगा था अब जो कहूँगा मेरी बातों में असर भी देना दुरुज शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाह सल सैदना नबी गिना मौलाना मोहम्मद वबारक वसलम मोहतरम बुजुर्गो और अजीज़ साथियों मैं सबसे पहले हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरक़ातहम का शुक्र गुज़ार हूँ कि हज़रत ने मुझे यहाँ पर मौका दिया अल्लाह तबारक व ताली हज़रत मुफ्ती साहब की तमाम तर खिदमात को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताली हज़रत का साय आतिफत उम्मत पर तादेर कायम दाइम रखे मैंने आप हजरात के सामने क़ुरान करीम की दो आयतें तिलावत फरमाई अल्लाह तबारक व ताला पहली आयत करीमा में इरशाद फरमाते हैं वज़रू ज़ाहिरल इसमी व बातिना ज़ाहिरी और बातिनी दोनों गुनाहों को छोड़ दो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कोई मशवरा नहीं दिया बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको इस आयत करीमा में हुक्म फरमाया है कि ओ लोगो तुम अपने ज़ाहिरी गुनाहों को भी तर्क कर दो छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को दो रास्ते दिखला दिए एक नेकी वाला रास्ता दिखलाया और दूसरा बदी वाला रास्ता दिखलाया नेकी किसे कहते हैं अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को मानना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक को फॉलो करना तो हमें यह रास्ता भी अल्लाह तबारक व ताला ने दिखलाया और हमें हुक्म भी दिया गया माता कुम रसूल फ़ुदूह वमा नहा कुमान गुफन तहू नबी जी जो तुम्हें काम करने का हुक्म दे जो चीज़ तुम्हें दे दे उसे ले लो और जिन चीज़ों से नबी रोक दे उससे रुक जाओ तो अल्लाह तबारक व ने हमें नेकी वाला रास्ता भी दिखलाया और इसके बरखिलाफ जो काम भी होगा यानी अल्लाह के हुक्म को अगर तोड़ा जाएगा और नबी के तरीके को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो काम गुनाह वाला काम होगा हकीम उलम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नब्वर मरकद उन्होंने एक मौके पर इरशाद फरमाया जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिलो दिमाग में चार तस्वुरात होते जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिलो दिमाग में चार तस्वुरात होते हैं सबसे पहला तस्वुर यह होता है कि मुझे कोई देखता नहीं है मैं गुनाह कर रहा हूं मगर मुझे कोई देखता नहीं है मैं अकेला हूं बंद कमरे में है मेरा अब्बा भी मुझसे दूर है घर वाला भी कोई मुझे देख नहीं रहा मैं अकेला हूं the best of century in world हजरत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमत ने एक मौके पर इरशाद फरमाया हमने सबसे सबकी नज़रों से बचने की फिक्र की है और सबकी नज़रों को मजबूत जाना है मगर हमने खुदा की नज़रों से बचने की कोई फिक्र नहीं की और सबसे कमज़ोर नज़र हमने खुदा की नज़र को जाना है इसलिए कि आदमी जब गुनाह करता है या कोई भी काम करता है तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी तलाश करता है और देखता है गुनाह के काम को करने से पहले कि मेरा बच्चा तो मुझे देख नहीं रहा मेरे घर वाले मेरी फैमिली मेंबर मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मुझे देख तो नहीं रहे घर का दरवाजा बंद हो चुका है या खुला हुआ है सारी चीजें चेक कर लेता है और फिर अपने आप को गुनाहों की तरफ ले जाता है मगर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया इन रब का लबिल मिरसाद बेशक तेरा रब तेरी घात में है ताक में बैठा हुआ है जैसे एक शिकार आदमी शिकार करने जब निकलता है आदमी तो जैसे अपने शिकारी पर बराबर नजर जमाए हुए बैठता है उससे भी कई गुना ज्यादा तेज अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर मुकम्मल नजर जमाए हुए जैसे हम अपने आप को कैमरे के डर से गुनाहों से बचा लेते हैं कैमरा लगा हुआ है इसलिए हम अपने आप को गुनाहों से बचा लेते हैं मुर्शिदी व मौलाई हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुजमान साहब इलाहाबादी दामद बरकात हम एक मौके पर इर्शाद फरमा रहे थे कि हमने अपने आप को कैमेरे की नजरों से बचाने के लिए गुनाहों से बचने का प्रोग्राम तो बना लिया मगर खुदा का कैमेरा हमारे सब के अंदर फिट किया हुआ है हमने उससे बचकर गुनाह करने का प्रोग्राम नहीं बनाया हजरत इब्राहिम इबन अधम रहमत बहुत बड़े अल्लाह वाले है एक नौजवान उनके पास आया और आकर कहने लगा कि हजरत मुझे गुनाह करना है गुनाह का इरादा होता है मुझे आप कुछ नसीहत कर दीजिए हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह ने उससे कहा ठीक है भाई मेरे पास तो बैठ जा मैं तुझको कुछ सवालात करता हूं अगर वो काम तो आसानी के साथ कर लेता हो तो फिर बाद में तू चाहे तो गुनाह कर सकता है तो नौजवान काफी खुश हो गया कि अच्छी बात है मुझे तो जो मतलूब था वो चीज मुझे मिल जाएगी ये जो काम बतलाएंगे वो काम मैं कर लूंगा और अपने आप को गुनाहों में फिर लगा दूंगा तो हजरत इब्राहिम इबन अधम रहमतुल्लाह ने सबसे पहली उसको शर्त बयान फरमाई कि अगर तुझे गुनाह करना है अगर तेरा इरादा होता है कि मैं गुनाह करूं तो अल्लाह तबारक व ताला का रिस्क खाना छोड़ दे तो उसने कहा यह बात तो बड़ी अजीब है मैं खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे अगर तुझे गुनाह करना है तो अपने आप को गुनाहों में लगा कोई मसला नहीं है मगर उससे पहले जो अल्लाह तबारक व ताला का रिस्क तुझे मिल रहा है उस रिस्क से मुस्तगनी हो जा और फिर तू बाद में अपने आप को गुनाहों में लगा उसने कहा कि हजरत मैं ऐसा तो नहीं कर सकता मैं अपने आप को गुनाह में लगाने के लिए रिस्क छोड़ नहीं सकता अगर खाना छोड़ दूंगा तो फिर मैं जीऊंगा कैसे मुझे जीना है तो खाना पड़ेगा और खाना है तो अल्लाह का रिस्क है उमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला रिस्क हुआ ये रिस्क जो मिला है वो अल्लाह ही की तरफ से मिला है तो अब जब तू खुदा का खाना खाता है खुदा का रिस्क खाता है खुदा के रिस्क पे जिंदगी बसर करता है तो फिर उस रिस्क को खाने के बाद अपने आप को गुनाहों में क्यों लगाता है का ठीक है चल तो खाना बंद नहीं कर सकता तो फिर तो दूसरा एक काम कर काजी हजरत क्या काम करना है तो उसने कहा कि अगर तुझे गुनाह करना है तो ऐसी जगह चला जा जहां खुदा मौजूद ना हो कोई ऐसी दुनिया में चला जा कि जिस दुनिया में खुदा मौजूद ना हो तो उसने कहा यह भी मुमकिन नहीं है मैं जहां भी जाऊंगा जहां भी रहूंगा खुदा तो हर जगह मौजूद होगा दुनिया के जिस कोने में चला जाऊं चांद पे चला जाऊं या पाताल में चला जाऊं मैं जहां भी जाऊंगा खुदा तो मौजूद रहेगा तो ऐसी कोई जगह तो नहीं है कि मैं खुदा से दूर हो सकूं तो ये काम भी मेरे लिए काफी मुश्किल है तो हजरत ने कहा ठीक है जब तेरा ये काम भी ये काम करना भी तेरे लिए मुश्किल है तो फिर तो खुदा की नजरों से भी दूर नहीं हो सकता खुदा का दिया हुआ रिस्क भी नहीं छोड़ सकता खुदा की जमीन से दूर हो जा जमीन को छोड़ के दूसरी कोई जमीन पर चला जा ऐसी जमीन पर जा जिस जमीन पर खुदा का कब्जा ना हो वैसी जमीन पर जाकर अपने आप को गुनाहों में लगा दे तो कहा कि नहीं हजरत मैं खुदा की जमीन भी नहीं छोड़ सकता इसलिए कि जहां भी जाऊंगा खुदा ही की जमीन है मैं यहां रहूं जहां भी रहूं जैसा भी रहूं खुदा ही की जमीन पर रहने वाला हूं तो कहा ठीक है चौथा काम कर ले कि जब मलेकुल मौत आए तो उसको कह देना मुझे मरना नहीं है जब तो अल्लाह के रिस्क से भी अपने आप को दूर नहीं कर सकता खुदा की ज़मीन से भी दूर नहीं कर सकता खुदा की हुकूमत से अपने आप को दूर नहीं कर सकता तो जब मलेकुल मौत तुझे लेने आए तो उसको कह देना कि नहीं मैं तो दुनिया में ही रहूंगा जहां मैं हयात पीकर आया हूं मैं दुनिया से जाने वाला नहीं हूं मुझे छोड़ दो दूसरे किसी को ले जाओ तो उसने कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता मलिकुल मौत को मैं मना भी नहीं कर सकता तो कहा जब तू ये चार काम नहीं कर सकता तो पांचवा और अखीरी काम बतलाया कि दोजक के अजाब को अपने ऊपर से रोक लेना जब तुझे जहन्नम में जलाया जाए तो उस वक्त तू अपने आप को जहन्नम के अजाब से रोक लेना तो उसने कहा हजरत ये पांचवा काम भी मैं नहीं कर सकता तो फिर हजरत ने उससे कहा हजरत इब्राहिम इबन अधम रहमतुल्लाह ने कि मेरे भाई ए नौजवान जब तू खुदा के रिस्क को छोड़ नहीं सकता जब तू खुदा की जमीन से दूर नहीं जा सकता खुदा की नजरों से दूर नहीं जा सकता मलेकुल मौत को रोक नहीं सकता जहन्नम के आजाब को रोक नहीं सकता जब ये चीजें तू नहीं कर सकता और ये चीजें करने पर तू कादिर नहीं है तो फिर जहन्नम के तो फिर अपने आप को गुनाहों में क्यों लगाता है तो उस आदमी ने उस नौजवान ने हजरत की बात को सुना और उसके बाद अपने आप को गुनाहों से बचाने की फिक्र शुरू की तो हमारा हाल भी यही है अगर हम अपने आप को गुनाहों में लगाना चाहते हैं तो लगाइए कोई मसाला नहीं है ये जिंदगी जो अल्लाह तबारक व ताला ने दी है एक न एक दिन खत्म हो जाएगी ये अल्लाह तबारक व ताला ने ये माल ये दौलत ये शोहरत ये इज्जत ये रुतबा जो दिया है ये सारा के सारा खत्म हो जाएगा जैसे हजरत इब्राहिम इबन अधम ने उस नौजवान से कहा था तो गोया हमसे भी यही कहा जा रहा है कि अगर गुनाह करना है तो अल्लाह के रिस्क को छोड़ दो फिर अल्लाह को कह देना कि अल्लाह हमने तेरा खाया नहीं था तो हमने तेरी बात नहीं मानी जैसे कोई हमें नसीहत करता है कोई अच्छी बात समझाता है तो हम उसको जवाब देते तू तेरा काम कर तू दारू जोई ले મને કશું કહેવાની કોઈ જરૂર નથી તારે तो हम अल्लाह तबारक व ताला से भी ये कह दे कि अल्लाह मैंने तेरा खाया नहीं था जब मैंने तेरा खाया नहीं था तो तेरी बात नहीं मानी तेरी जमीन पे रहा नहीं था जब तेरी जमीन पे रहा नहीं तो तेरे हुक्म को फॉलो नहीं किया हम ये में से कोई भी काम कर कर सकते नहीं है इसलिए कि पूरा के पूरा जो हमारा जो हमारे पास खाना आता है पीना आता है न्यामतें आती है किसकी तरफ से आती है अल्लाह ही की तरफ से आती है जब अल्लाह ही की तरफ से आती है और हमें वही पाल सकता है उसके अलावा किसी की ताकत नहीं जो हमें पाल सके इब्न कईम जौजी रहमत ने एक बात लिखी है कि इंसान जब तू गुनाह करे तो यह ना सोचना कि ये छोटा गुना है या बड़ा गुना है बल्कि उस अजमत वाले रब की शान को मद्देनजर रखना कि तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है आदमी गुनाह करता है तो सोचता है कि छोटा गुनाह हो जाएगा अल्लाह माफ कर देगा फिर बहुत सो का हाल होता है कि अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है माफ कर देगा अल्लाह माफ करने ही बैठा है यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है लेकिन वही अल्लाह जब्बार भी है वही अल्लाह कहार भी है और वही अल्लाह जब पकड़ने पर आता है तो ऐसी पकड़ करता है कि सारों की पकड़े खत्म हो जाती है तो सबसे पहली बात जो मेरी बात की इब्तदा हुई थी हजरत हकीम उलम्मत ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उस वक्त उसका यह तस्वुर होता है कि मुझे कोई देखता नहीं है मैं अकेला हूं इन रब कलबिल मिरसाद मैं सबसे छूप गया हूं मगर मेरा खुदा मुझे हर वक्त देख रहा है दूसरे नंबर पर मेरे गुनाह का किसी को इल्म नहीं है मैं जो गुनाह करता हूं मेरे इस गुनाह का किसी को इल्म नहीं है न मेरा अब्बा जानते हैं न मेरी बीवी जानती है न मेरा हस्बैंड जानता है न मेरा बेटा जानता है या आलम आयुन वमा तुख सुदूर वो खुदा तो इतना जानता है तुम्हारी आंखों की खयानतों को भी जान लेता है तुम्हारे दिल में छुपे हुए राजों को भी जान लेता है जो तुम नहीं जानते अपने बारे में वो चीजें वो खुदा जानता है हम समझते हैं कि हम जो करते हैं उसका इल्म किसी के पास मौजूद नहीं है और फिर हम गुनाह में अपने आप को लगाते हैं तो कुरान खुद कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है और तुम्हारे दिलों की चोरी को भी वो खुदा जानता है तो दूसरे नंबर पर जब बंदा ये समझता है कि मैं जो गुनाह करता हूं मेरे गुनाह का किसी को इल्म नहीं है तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में उसका भी तोड़ बयान कर दिया है और तीसरे नंबर पर बंदे का यह तस्वुर होता है मैं अकेला हूं कोई साथ में नहीं है वह अमाकुम ऐ नमा कुन तुम तुम जहां कहीं भी होते हो तुम अकेले मौजूद नहीं होते तुम्हारे साथ तुम्हारा खुदा मौजूद होता है वो रब तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं भी रहते हो वहु अमाकुम ऐनमा कुन तुम तुम जहां कहीं भी होते हो वो खुदा तुम्हारे साथ मौजूद होता है तो हम ये भी तस्वुर न करें कि मैं अकेला हूं मुझे कोई देख नहीं रहा मेरे गुनाह का किसी को इल्म नहीं है मैं सबसे बच चुका हूं कमरा बंद कर दिया खिड़की बंद कर दी पर्दा डाल दिया लाइट बंद कर दी मगर वो खुदा इतनी बारीकियों को जानने वाला है कि अंधेरी रात में अंधेरी रात में अंधेरी चटाई पर काली चलने वाली कीड़ी के भी नक्शे कदम को जान जाता है तो वो खुदा सारी चीजों का इल्म रखता है इसीलिए हम समझते हैं कि हमने सबसे बचने की फिक्र कर ली मगर हमने अपने आप को खुदा से नहीं बचाया है हमने गुनाह के प्रोग्राम बनाकर अपने आप को लोगों से तो बचा लिया लोगों की नजरों से बचा लिया मगर कल कयामत के दिन हम ये जो गुनाह करते हैं तो चार तस्वुरात तो होते हैं और उसके साथ साथ चार चीजें उसको नोट करती है चार चीजें उसको गुनाह को नोट करती है वबुजियाल किताब फतर मुजरिमी न मुशफिकी न मिम्मा फी वकूलू न या वईलतना माली हादल किताब ला उगादिर सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा वजदू मा अमिलू हाजिरा सबसे पहले नंबर पर जब बंदा गुनाह करता है तो उसका नामा अमाल उसको नोट कर लेता है उसका जो नामा अमाल होता है वो सारी चीजें नोट कर लेती है चाहे अच्छा काम हो बुरा काम हो सारी चीजें नोट की जाती है सारी चीजें लिखी जाती है और जब कल कयामत के दिन उसका नामा अमाल पेश किया जाएगा ने या वही लतना माली हादल किताब मेरे इस पर्चे को क्या हो गया इस अमाल को क्या हो गया लाउगादिर सगीरतन वला कबीरा न उसने किसी छोटी बात को छोड़ा है न बड़ी बात को छोड़ा है मेरा जो तस्वुर था वो भी यह लिखा हुआ है जो मैंने किया जो मैंने अपने सीधे हाथ से किया राइट हैंड से किया जो दूसरे हाथ को पता नहीं था वो भी वहां मौजूद है जो मैंने सबसे बचकर किया था वो भी सारी चीजें यहां पर मौजूद पाएगा वह वजदू मामिलु हाजिरा वला यजलिम रब्बुक अहदा जो कुछ भी करेगा वहां मौजूद पाएगा और तेरा रब किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है जो कुछ भी किया होगा अच्छा किया होगा वो भी मौजूद होगा बुरा किया होगा वो भी मौजूद होगा जवानी में किया होगा वो भी मौजूद होगा बुढ़ापे में किया होगा वो भी मौजूद होगा अमीर ने किया होगा वो भी मौजूद होगा गरीब ने किया होगा वो भी मौजूद होगा मर्द ने किया होगा वो भी मौजूद होगा औरत ने किया होगा वो भी मौजूद होगा जिसने भी किया होगा जो भी किया होगा जब भी किया होगा सारा के सारा नामा में मौजूद पाएगा तो जहां पर चार तस्वुरात इंसानी जहन दिमाग पर होते गुनाह के वहां पर चार चीजें ऐसी होती है जो इंसानी गुनाह को नोट करती है लिखती है तो सबसे पहले नंबर पर इंसानी नामा या अमाल इंसान का जो अमाल नामा होगा वो भी इंसान की सारी चीजों को नोट कर लेगा और दूसरे नंबर पर किरामन कातिबीन या अलमून मा तफालून जो बैठे हुए फरिश्ते दो तरफ वो फरिश्ते भी सारी चीजों को नोट करते हैं अच्छे वाला अच्छाई को लिखता है बुराई वाला बुराई को लिखता है तीसरे नंबर पर इंसान के आजा जिस्म के जो आजा है वो सारे आजा भी नोट करते हैं अलियम नख्तिम आला अफवाहिम व तुकल्लिमुना कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला मुंह को बंद कर देगा दुनिया में बहुत बोल लिया अब खामोश हो जा हाथ बोलेंगे पैर बोलेंगे जिसम के सारे आजा बोलेंगे पैर कहेगा मुझे फुला गुनाह करने की जगह पर लेकर गया था फुला गुनाह की चीज को मेरे हाथों से पकड़ा था वहां तो कोई रिश्वत चलने वाली नहीं है कि दे दिया अपने आप को छुड़वा लिया अपने आप को बरी करवा लिया वहां तो कुछ चलने वाला नहीं है तो इंसान के जिसम के सारे आजा भी नोट करते हैं और कल कयामत के दिन ये सारे आजा उसकी गवाही देंगे और चौथे नंबर पर यौम दिन तो हद तो अखबार जिस जमीन पर गुना किया है वो जमीन भी कल कयामत के दिन अपनी सारी खबरों को बयान कर देगी कि फुला बंदे ने फुला वक्त में मेरे पास मेरे ऊपर इस वक्त में ये गुना किया था तो चार तस्वुरात हुए तीन बयान किए एक बयान करना बाकी है पहला तस्वुर में दोबारा एक मरतबा बयान कर देता हूं इसलिए कि बयान की मजलिस में ये अक्सर देखा गया है सकीना बहुत आसानी के साथ तारी हो जाता है गेंद की गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आसानी के साथ जिसे बिस्तर पे नींद नहीं आती उसको दीनी मजालिस में आसानी के साथ नींद आ जाती है लिहाजा मैं दोबारा चार तस्वुरात को बयान कर देता हूं सबसे पहले नंबर पर मुझे कोई देखता नहीं है मैं अकेला हूं अल्लाह तबारक व ने उसका तोड़ बयान किया इन रब्बक लबिल मिरसाद के तेरा रब तेरी घात में है दूसरे नंबर पर मेरे गुनाह का किसी को इल्म नहीं है मैंने तो छुप कर किया है सब बंद करके किया है मगर या आलम खा आयुन वमा तुखफिस सुधूर और तीसरे नंबर पर मैं अकेला हूं मेरे साथ कोई नहीं है मैं अकेला हूं मेरे साथ कोई नहीं है वह वमा माकुम ऐनमा कुन तुम तुम जहां कहीं भी होते हो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है और चौथी बात हमारे अक्सर नौजवानों का एक हाल है कौन क्या कर लेगा तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे मुझे जो करना है मैं वही करने वाला हूं दुनिया का इंसान तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मगर याद रखना जब वो खुदा बिगाड़ने पर आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बना सकती जब वो खुदा बिगाड़ने पर आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बना सकती इन बतश रबी कल शदीद बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है हमारा एक तस्वुर होता है कि कौन क्या बिगाड़ लेगा कौन क्या कर लेगा किसी से कुछ नहीं होगा मैं तो मेरी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा माई लाइफ माई चॉइस ये कायदा बन चुका है कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी से मेरी लाइफ मेरे उसूलों से चलेगी जैसा मैं उसूल वजह करूंगा मेरी लाइफ के लिए वैसे ही मैं जिंदगी बसर करूंगा मैं आपसे सवाल करता हूं हम इस दुनिया में जो तशरीफ लाए किसकी मर्जी से आए किसकी मर्जी से आए अल्लाह की मर्जी से आए किसी ने अल्लाह से डिमांड रखी थी कि 1940 के बाद जाना है 1960 के बाद दुनिया में भेजना उससे पहले मुझे दुनिया में मत भेजना डिमांड रखी थी किसी ने नहीं और दुनिया से जो जाना है किसकी मर्जी से जाना है अल्लाह की मर्जी से जाना है किसी ने अल्लाह से ये नहीं कहा कि अभी मुझे दुनिया से मत उठाना मेरे पोते आ जाए नवासे आ जाए और ढेर सारा माल में जमा कर लूं अल्लाह उसके बाद दुनिया से रुखसत करना किसी ने कहा है अल्लाह से नहीं आना खुदा की मर्जी से जाना खुदा की मर्जी से दरमियान की जिंदगी किसकी मर्जी से कहने को तो अल्लाह की मर्जी से है मगर गुजारते हैं किसकी मर्जी से अपनी मर्जी से जब हम आए खुदा की मर्जी से जाएंगे खुदा की मर्जी से तो फिर जिंदगी किसकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए अल्लाह ही की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए वही खुदा है जिसने हमें खिलाया है वही खुदा है जिसने हमें पिलाया है वही खुदा है जिसने हमें चलाया है वही खुदा है जिसने हमें देखने की ताकत दी है हमारे शॉप पर हमारी दुकान पर हमारे यहाँ पर अगर कोई नौकर कोई खादिम काम करता हो वर्कर काम करता हो और अगर वो वक्त पर काम को पूरा न करे तो हम उसकी सैलरी डबल कर देते हैं क्या करते सैलरी डबल हो जाती है नहीं बल्कि उसकी सैलरी कट हो जाती है हम उस पर गुस्से होते हैं अल्लाह तबारक व ताला के हम सब गुलाम हैं मैं भी उस खुदा का गुलाम हूं आप भी उस खुदा के गुलाम हैं कभी हमने पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि आज हमने उस खुदा की नाफरमानी की तो उस खुदा ने हमारी सांसों को रोक लिया हो कभी ऐसा हुआ है हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि आज हमने बदनजरी की तो उस खुदा ने हमारी देखने की ताकत को खत्म कर दिया आज के दिन के लिए कभी हम उस खुदा ने हमने गलत चीजों को सुना तो उस खुदा ने कभी ऐसा नहीं किया हमारी सुनने की ताकत को सलब कर लिया हो आज के दिन के लिए कभी ऐसा हुआ है नहीं उस खुदा ने कभी हमारे साथ ये मामला नहीं किया बल्कि उस खुदा ने हम तमाम के साथ रहमो करम का मामला किया है मगर हम इतने बड़े निकम में हैं इतने बड़े निकम में हैं कि हमने अपने आप को उस खुदा से दूर करने की हर वक्त कोशिश की और फिर हमारी एक शिकायत बारहा रहती है तो मोल साहब पता नहीं चलता क्या हो रहा है दुनिया के हालात बद से बदतर बने जा रहे हैं जहां देखो जुल्म तशद नजर आता है जहां देखो लोग परेशान नजर आते हैं हालांकि कुरान तो कहता है वन तुम आलऊन इनकुन तुम मुमिन तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर सही माने में मुसलमान होंगे तो मोल साहब हम तो कलमा भी पढ़ते हैं नमाज भी पढ़ते हैं रोज़े भी रखते हैं और सिर्फ रमज़ान में कुरान की तिलावत भी कर लेते हैं हमने कलमा पढ़ा हम लेबल के एतबार से मुसलमान हैं फिर हम सर बुलंद क्यों नहीं हैं मैं आपको एक मिसाल दूंगा इन बात समझ में आ जाएगी आपके यहां ब्लैकबन में एक साहब बंदूक बेचने के लिए आए और उन्होंने आकर बंदूक के फजाइल सुनाए कि ये गन जो है बंदूक जो है अगर किसी के ऊपर चलाई जाए तो दुनिया से चला जाता है बंदूक अगर किसी पर चलाई जाए तो दुनिया से चला जाता है और भी बहुत से फजाइल सुनाए तो एक आदमी दौड़ता हुआ गया और उसने कहा कि भाई एक काम कर ये गन तू तो मुझे दे दे इसलिए कि मेरे बहुत से ब्लैकबन में दुश्मन बैठे हुए हैं मैं सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा तो उसने वहां से उनसे गन और बंदूक खरीद ली और अपनी घर की छत पर टेरेस पर चढ़ गया और टेरेस पर जाने के बाद सबसे पहले उसने कबूतर को अपनी बंदूक का निशाना बनाया और कबूतर के ऊपर गोली चलाई जैसे ही गोली चलाई कबूतर उड़ के भाग गया उसने कहा यह आदमी झूठ बोला इसने मुझसे कहा था कि इंसान मर जाएगा तो इंसान तो मरने की बात कोसों दूर रही मैंने कबूतर पे चलाई कबूतर उड़ के भाग गया तो दौड़ता हुआ आया और आकर कहो भाई आपने तो मुझे कहा था कबूतर मर इंसान मर जाएगा या तो कबूतर को भी कुछ नहीं हुआ कि नहीं दोबारा चला जरूर कबूतर भी मरेगा उसने दोबारा गया दोबारा कबूतर पे चलाई वापस कबूतर उड़ के भाग गया तीन बार चार बार ऐसा करता रहा फिर अखीर में वापस उस बेचने वाले के पास आया और आकर कहा कि भाई तू झूठ बोलता है तेरी बंदूक तू वापस ले जा मुझे नहीं चाहिए तो उसने कहा भाई क्यों नहीं चाहिए कहा तू तो कह रहा था कि इंसान मर जाएगा तो कबूतर भी नहीं मरा तो अच्छा ऐसा है कहा हाँ, नहीं मरा कहा बता तू बंदूक किस तरह चला रहा था तो उस आदमी ने कहा मैं एक हाथ से बंदूक चला रहा था और दूसरी हाथ से गोली मार रहा था एक हाथ से बंदूक चला रहा था और दूसरे हाथ से गोली मार रहा था तो उसने कहा कि अगर तुझे उम्र नूह भी दे दी जाए तो क्या अगर तुझे उम्र नूह भी दे दी जाए तब भी एक कबूतर को मारने की बात तो कोसो दूर रही एक मक्खी भी तू नहीं मार सकेगा बिल्कुल वैसा ही हाल हमारा है हम मुसलमान ज़रूर है मगर हमारा इस्लाम सिर्फ अपनी ज़ुबानों तक महदूद है हम मुसलमान ज़रूर है मगर हमने अपने आप को नेकी के काम में लगाने की कोई फिक्र नहीं की हम मुसलमान ज़रूर है मगर कभी हमने अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोई फिक्र नहीं की इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया जहर अलफसाद वल बहर बिमा कसबत नास खुशकी में और तरी में जो फसादात जाहिर होते हैं वो इंसान ही की करतूत की बुनियाद पर होते हैं किसी के आने से किसी के जाने से किसी के करने से किसी के होने से कुछ नहीं होता जो इंसान करता है यहां से अमाल ऊपर जाते हैं वहां से फैसले वैसे नीचे आते हैं मेरे और आपके गुनाह करने की बुनियाद पर मेरे और आपके खुदा की नाफरमानी करने की बुनियाद पर मेरे और आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों को तोड़ने की बुनियाद पर यह जो कुछ भी हो रहा है हमें नजर आ रहा है हजरत शाह वली मोहद्दीस दहलवी रहमत जब दिल्ली में इंडिया में कत्ल जब दिल्ली में नौजवान तबका अपने आप को खुदा से दूर कर रहा था और गुनाहों में अपने आप को मुलविस कर रहा था उस वक्त शाह साहब रहमत ने दहली की गलियों गलियों में जाकर घर घर को दस्तक दी थी और जाकर ये कहा था ए नौजवानों तुम अपनी जिंदगियों को बदल लो वरना मैं देख रहा हूं दहली की गलियों में खून की नदियां बह रही है मगर जवानी का जो खून होता है बड़ा गर्म खून होता है और माल का जो नशा होता है उसमें कोई चीज नजर नहीं आती तो लोगों ने बातों को नहीं सुना कहा कि मौलवी का तो कुछ काम नहीं है बस डराने का काम है इनका तो कुछ काम धंधा है नहीं बस मस्जिद में पूरा दिन रहने का होता है तो लोगों को डराते रहते मगर तारीख गवाह है आप तारीख की किताबों को उठाकर देखें जब नादिर शाह बादशाह की हुकूमत आई नादिर शाह बादशाह की दिल्ली में हुकूमत आई उस वक्त दिल्ली की गलियों में खून की नदियां बह रही थी और उस वक्त के लोग उस वक्त के बुजुर्ग हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह याले के पास गए और हमारा एक मिजाज बना हुआ है हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम होता है या कोई गलत काम हम देखते फौरन बदुआ करना शुरू कर देते फौरन बदुआ करना शुरू कर देते हैं तो हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमत अली के पास कुछ नौजवान गए मुसलमान गए और जाकर कहा कि हजरत ये नादिर शाह बादशाह जो है उसने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है गलियों में दहली की खून की नदियां बहा दी आप एक काम कीजिए उसके लिए बदुआ कर दीजिए तो हजरत मिर्जा मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर के लिए अपनी गर्दन को झुकाया और झुकाने के बाद थोड़ी देर के बाद कहा शामत आमाल मां सूरत नादिर गिफ्त ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी बदामली की सजा है जो नादिर शाह बादशाह की शक्ल में आई है तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है जहां कहीं भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से किसी की पकड़ आती है या जहां कहीं भी कुछ हालात बदलते हैं हालात मुखालिफ नजर आते हैं तो यह अजीजों किसी के आने से या किसी के जाने से नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बदअमली की बुनियाद पर होता है साहब कराम रिजवान तजमैन की जिंदगी जब तक उन्होंने अपने आप को मिशन रिसालत के साथ नहीं जोड़ा था नेकी के कामों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा था तो उनके हालात क्या थे वो सारे हमारे सामने हैं मगर जैसे ही उन्होंने मिशन रिसालत के साथ अपने आप को मुतसिफ कर दिया जैसे ही अपने आप को नेकी के कामों में लगाना शुरू कर दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया और कितना बड़ा मकाम और मरतबा दिया रजी अल्लाह अल्लाह भी उनसे राजी हो गया और वो भी अल्लाह से राजी हो गए और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबी अयह तुम एहतदई तुम मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है जिसकी भी इतबा कर लोगे हिदायत पा जाऊंगे तो ये कब हुआ जब उन्होंने अपने आप को नेकी के रास्ते पर चलाया गुनाहों से अपने आप को बचाया और नेकी का रास्ता क्या है अल्लाह के हुक्म को मानना और नबी के तरीके को फॉलो करना जब नबी का तरीका फॉलो होगा अल्लाह के हुक्म को माना जाएगा तो गोया हम नेकी के रास्ते पर अपने आप को ले आए और हमें जो दीन दिया है जो नबी जो दीन लेकर आए ये हमें अपनी मर्जी का दीन जीने को नहीं कहा गया ये शरीयत मेड इन मदीना शरीयत है मेड इन चाइना शरीयत नहीं है कि जो मर्जी में आया कर लिया जो मर्जी में आया छोड़ दिया ये हमें जो शरीयत दी गई शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए तो ये वहां से जैसी चलती है वैसी नकल उतारनी पड़ेगी अपनी मर्जी की शरीयत अगर हमने बनाई कि कुछ अच्छा लगा कर लिया फत मिनू नबी बाजिल किताब व तकफरू नबी बाज जो अच्छा लगा उसको ले लिया जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दिया तो इसमें कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है अल्लाह तबारक व ताला ने ये माह मुबारक जो हमें अता किया है हमें मुत्तकी बनाने के लिए अता किया है तो ये रमज़ान के महीने में हम आसानी के साथ गुनाहों को छोड़ सकते हैं रमजान के महीने में बड़ी आसानी के साथ इसमें हमें मश्क कराई जाती है और हमें ये बात दिखलाई गई अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को ये बात बतलाई और लोगों ये मुसलमान तो वो मुसलमान है जब खुदा के हुक्म को पूरा करने का सोच लेता है जब खुदा के हुक्म को पूरा करने का सोच लेता है ठान लेता है तो फिर वो अपनी गाड़ी कमाई से जो माल लाया है रिश्क हलाल लाया है जब खुदा का हुक्म आ जाता है तो सुबह सादिक से लेकर मगरिब के वक्त तक अपने आप को उस माल से भी दूर कर देता है हराम की बात तो कोसों दूर रही जब खुदा के हुक्म को मानना शुरू करता है तो हलाल की तरफ भी नहीं जाता ये मुसलमान तो वो मुसलमान है जब खुदा के हुक्म की तरफ अपनों को ले जाना शुरू करता है तो जिनाकारी बदकारी और दीगर गुनाहों के प्रोग्राम बनाने की बात तो कोशो दूर रही जब खुदा के हुक्म को मानना शुरू करता है तो सुबह से लेकर मगरब तक अपनी बीवी जो उसके लिए हलाल थी उसको भी हाथ नहीं लगाता तो ये रमजान में तो हमें मश्क कराई जा रही है मगर रमजान का महीना निसफ तो गुजर चुका है आज करेंगे कल से करेंगे अभी तो बहुत वक्त बाकी है पूरा महीना बचा हुआ है देखते ही देखते पंद्रह दिन खत्म हो चुके अभी और देखते देखते दूसरे पंद्रह दिन भी निकल जाएंगे अगर हमने अपने आप को संवारने की फिक्र और कोशिश नहीं की तो अजीजों एक नहीं दस नहीं हजार रमज़ान जिंदगी में आए हमारी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है और हम ये भरम में न रहे कभी तो बहुत जीना है बहुत लंबा वक्त गुजारना है अभी मेरे दादा मौजूद है वो जाएंगे मेरा अब्बा जाएंगे मेरा बड़ा भाई जाएगा फिर मेरा नंबर आने वाला है मौत किसी को कहकर नहीं आती जिंदगी की शाम हो जाए किसी को पता नहीं गुजशत रमज़ान में बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद थे इस रमज़ान में हमारे साथ मौजूद नहीं है हो सकता है इस रमज़ान में हम मौजूद हो आइंदा रमज़ान में हम भी मौजूद न हो अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम की कामिल इस्लाह फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए आखिर में एक रिवायत पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अनहु से इत्तकिल महा महारिम तकुन आबदन्नास कि अल्लाह के हराम करदा चीजों से बच जा तो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा करने का काम नहीं न करने का काम बतलाए कि ये काम नहीं करना हमें करने के काम भारी पड़ते हैं नमाज पढ़ना भारी पड़ता है रोजे में रखना भारी पड़ता है इबादत करना भारी पड़ता है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने न करने के काम बतलाए कि गुनाहों के काम न करो इबादत गुजार बन जाओगे तो हम रोज़ा नमाज ज़क़़त सबका अहतमाम के साथ साथ जो न करने के काम हैं गुनाहों से अपने आप को बचाए इन हम अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाएंगे और हम ये भरम में न रहे अभी जवानी है बुढ़ापे में तोबा कर लेंगे आज ही कर ले ने किया तेरी तराजू में तुले या न तुले ने किया तेरी तराजू में तुले या न तुले गुनाहों के दाग तेरे दामन से धुले या न धुले आज ही कर ले तू अपने गुनाहों से तौबा खुदा जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले वाखिर दावाना अलहमदिल्ला बसमीम اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا महमद وبارك वसलम كما تحب व तर्ज़ा ما تحب व من القول والفعل والعمل वनीति والهدى अल्लाहुम्माति नफूसहा बितकवाहा व जक्कीहा अंत खैर मन जक्काहा अंत वलीहा व मौलाहा अंत वलीहा व मौलाहा अंत वलीहा व मौलाहा व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाह इल्लाहुर्रहमानुर्रहीम ए अल्लाह तो रहमान है तो रहीम है मालिकुल मुल्क है जुलजलाल वल इकराम है ए अल्लाह दाताओं का दाता है ए अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा अल्लाह हमें माफ़ फरमा अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है तेरे अलावा माफ़ करने वाला कोई नहीं अल्लाह ए अल्लाह तू हम तमाम को माफ़ फरमा हमारे जिंदों को माफ़ फरमा हमारे मरहूमिन को माफ़ फरमा हमारी ऊपर नीचे की पेढ़ियों को माफ़ फरमा हमारी ददियाली ननियाली ससुराली तमाम रिश्तेदारों को माफ़ फरमा ए अल्लाह ए अल्लाह गुनाह करते करते जिसम में बीमारियां लग गई ए अल्लाह बाल सफ़ेद हो चुके ए अल्लाह चलने की ताकत ख़त्म होने को आई ए अल्लाह मगर हमारा दिल अभी भी गुनाहों की तरफ जा रहा है मेरे मौला मेरे मौला आपने रमज़ानमबारक का महीना हमें मुत्तकी बनाने के लिए दिया मगर हम बड़े नमक हराम निकले ए अल्लाह हमने इस महीने की भी जैसी कदर करनी चाहिए नहीं कदर की निसफ महीना हमारे हाथों से गुजर गया ए अल्लाह जिब्राइल ने बददुआ की है तेरे नबी ने उस पर आमीन कहा है ए अल्लाह हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मगफरत न करा ले मेरे मुला मेरे मुला ये रमज़ान भी अगर ऐसा ही गुजर गया तो हमारी कौन से दिन और कौन से महीने में मगफरत हो सकती है ए अल्लाह ए अल्लाह हमारी मगफरत फरमा गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी बसर करने की तोफ़ी अता फरमा गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी बसर करने की तोफ़ी अता फरमा अल्लाह हमने जितने रोज़े रखे तेरी तोफ़ी से रखे है उसे कबूल फरमा अल्लाह जो कुरान की तिलावत हुई तेरी तोफ़ी से हुई है कबूल फरमा अल्लाह जो सदका खैरात किया तेरी तौफीक से हुआ है अल्लाह उसे कबूल फरमा ए अल्लाह तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा है तेरी तौफीक ही से पढ़ा जा रहा है ए अल्लाह उसे कबूल फरमा कबूल फरमा अल्लाह जो बकिया याम बचे हुए है अल्लाह सही कदरदानी करते हुए सालिहीन के नक्श कदम पर चलते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमा तौफीक अता फरमा तौफीक अता फरमा ए अल्लाह इफ्तार का वक्त है और आपने कहा है कि मेरे इज़्ज़त की कसम मेरे जलाल की कसम मैं इफ्तार के वक्त की रोज़दार की दुआ को रद्द नहीं करता ए अल्लाह ए अल्लाह हमें कुछ और नहीं चाहिए बस तेरी एक नज़र करम डाल दीजिए बस तेरी एक नज़र करम डाल दीजिए तेरी एक नज़र की बात है हमारी ज़िंदगी का सवाल है तो एक नज़र डाल देगा हमारी ज़िंदगी सवर जाएगी ए अल्लाह ए अल्लाह हम तमाम को माफ़ फरमा और अल्लाह ये होने वाले प्रोग्राम को कबूल फरमा ए अल्लाह इंतज़ामिया को हिम्मत ताकत क़वत अता फरमा अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब की उम्र में आफ़ियत के साथ खूब बरकत अता फरमा अल्लाह ए अल्लाह उनके इल्म से हम तमाम को फ़ायदा उठाने की एल्ला तोफ़ी तौफीक अता फरमा हम तमाम की कामिल असलाह फरमा हम तमाम की कामिल असलाह फरमा जब से आपने दुनिया बनाई है तब से लेकर आज तक जितने अम्बिया उनके मुतबीन साल साल और तेरे तमाम बंदे बंदियों ने जितनी दुआएँ मांगी मांग रहे हैं क़्यामत तक मांगने वाले हैं उन तमाम की तमाम दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा अल्लाह आप सल्ला अलैहि ने जितनी खैर की लाइन से दुआ मांगी उसका हम सवाल करते हैं जिन शुरूर फितन से पना चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा अल्लाह हमने हमारी ज़िंदगी में जितनी दुआएं मांगी मांग रहे हैं क़यामत तक मांगने वाले हैं उन तमाम की तमाम दुआओं को और आज की इस दुआ को जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल में कबूल फरमा कबूल फरमा माह मुबारक की बरकत से इफ्तार के वक्त की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा कबूल फरमा कबूल फरमा वसल्ला नबी करीम बरहमती का यार हमर